करण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल यस जो दायक फल चार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उत्तरकांड दोहा चालीस के बाद चालीस दोहा परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अभिमाई निर्णय सकल पुराण वेद कर कहूँ तात ज्ञान को विद नर शरीर धर जे पर पीरा करंत सहन महाभव वीरा करई मोह बस नर अधनाना स्वार्थ रत पर लोक नसाना काल रूप दिन कहूँ मैं भ्राता शुभ यर अशुभ कर्म फल दाता अस विचार जय परम सयानी भजहि मोहि संस्कृत दुख जानी त्याग कर्म भज ही मोहि सुर नर मुनि नायक संत संतन के गुण भाखे तेन पर ही जिन लखी राखे तात सुनऊ तात माया कृत गुण अरुदोष अनेक गुण ये उभय न देखिए देखिए सो अभिवेक सियावर रामचंद्र की जय भवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय ब्रह्मा जी शत्रुघ्न जी हनुमान जी सदराजमान है और भरत जी के पूछने पर भगवान संतों के और असंतों के गुण दोष बता रहे हैं पहले उन्होंने संतों के गुण बताए और फिर असंत जो खंड लोग हैं दुष्ट लोग हैं बुरे स्वभाव के गुणों को भी बताया दो प्रकार की टेंडेंसी है निगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टेंडेंसी जो है दुर्गुण है पॉजिटिव टेंडेंसी जो है वो सदगुण है सदगुण व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है शक्ति देता है सुख आनंद देता है निगेटिव टेंडेंसी जो है व्यक्ति को क्षीण करती है दुर्बल बनाती है पतन की ओर ले जाती है अंत में दुख होता है इन दोनों को ध्यान में रख करके कौन कौन से गुण हैं कौन कौन से दुर्गुण हैं वो भगवान ने बताया अब कहते हैं कि गुण और गुण सबका आधार क्या है किस आधार के ऊपर हमने विचार किया कि कोई गुण है कोई दुर्गुण है वो अब भगवान बताते हैं कहते हैं पर ही सरिष धर्म नहीं खाई और पर समझनी अभिपाई और निर्णय सकल वेद पुराण समस्त वेद शास्त्रों का सबका सार है उनका सबका निर्णय किया हुआ कि दूसरे को

जहाँ तक मैं अहंकार विश्वास आया और अपना मतलब सिद्ध करने के लिए दूसरे व्यक्तियों को लक्ष्य देने लगा तो बस वहीं से उसका अनैतिकता कारण हो गई अधर्म कारण हो गया कभी कभी तो व्यक्ति की प्रवृत्तियाँ इतनी ज्यादा कलुषित हो जाती है कि यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य में भी सिद्ध हो रहा हो केवल तो दूसरे को कष्ट होता हुआ देखते दुखी देखते प्रसन्न होने लगे उसका भी वर्णन कर सकते हैं ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों को दुखी देख करके प्रसन्न होते दूसरे जो परेशान दुखी देख कर प्रसन्न होने वाले उनके समान को तो आराम व्यक्ति कोई है नहीं सबसे नीच व्यक्ति वही ये शास्त्र हुआ ये कारण नहीं देखिए रूप से भगवान ने गुरु दोषों का वर्णन और उसके पहले जो प्रसंग आया रामराज का वर्णन आया वहाँ पर ये बताया था कि देखो आखिरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति में अंतर यही है कि आखिरी प्रवृत्ति स्वास्थ्य की अहंकारी और दूसरे का नुकसान पहुंचा करके अपना मतलब सिद्ध करना आखिरी राष्ट्र की प्रवृत्ति है और दूसरे को अपना भी खान उठा करके दूसरी की सहायता करना ये है ये संपत्ति है अब ये तो व्यक्ति को लगे कि क्यों सीरत क्यों पड़ा दूसरे के क्यों शब्द को देखते करें हम अपना स्वास्थ्य क्यों न सिद्ध करें हम अपने को क्यों न देखें लेकिन ये तो बिना विचार किए तो ऐसा लग सकता है कि अपना स्वास्थ्य सिद्ध करने में बड़ी अच्छाई है लेकिन बुद्धि लगा लगावे थोड़ा सा विचार करें और इस नियम को जो आप समझते हैं तो अपना अपना स्वास्थ्य को सिद्ध करना चाहिए तो अगर इसी स्वार्थ को घर से शुरू करो मानो घर में चार लोग हैं और चारों लोग अपना अपना स्वास्थ्य सिद्ध करने में कहते और बाकी तीन लोग जो हैं उनको हानि पहुंचाओ पीड़ा दें अपना स्वास्थ्य सिद्ध करो दूसरे के पास जो कुछ है वो छीन लें अपना ही लाभ देते और दूसरा व्यक्ति यही करें हम सब लोगों ने ये निर्णय किया कि एक दूसरे को कष्ट पहुंचा करके अपना अपना स्वास्थ्य सिद्ध करो जो सर्वोत्तम सिद्धांत है तो आप कल्पना करो कि वो परिवार किस प्रकार का होगा रोज झगड़ा रोज लड़ाई रोज शाम रोज मारकाट घर भी पड़ी होगी कोई नहीं कहेगा कि तुमने हमको कष्ट पहुंचाया तो कोई बात नहीं हमको कष्ट पहुंचा दिया बराबर होगा ऐसा नहीं होगा वो जब दूसरे को कष्ट पहुंचाएंगे तो, तो, खुश होगा जब लेकिन जब दूसरा अपने को कष्ट पहुंचाएगा तो आया करेंगे मारने को तैयार हो जाएंगे तो कैसे किया हम तो ऐसा करेंगे बात तो ये सिद्धांत कभी नहीं सकता मूलभूत सिद्धांत ये कि ये कोई कहे कि सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करो यही सबसे बड़ा मूल मंत्र जीवन का है तो ये तो बिल्कुल मूर्खों का है बिना विचारहीन व्यक्तियों का जिन्होंने इस सिद्धांत को अपने परिवार में या अपने आसपास समाज में अप्लाई करके नहीं देखा है केवल अपने आप को देखते हैं तो दूसरा देश के मतलब हम बहुत चालाक आदमी हम दूसरे वाहन पहुंचा करके अपना स्वास्थ्य बदल लेंगे ऐसे समझने वाले व्यक्ति हैं वो मूर्ख माने वो आज नहीं देख सकते परिणाम क्या होगा उनके कार्य का यही मूर्ता बुद्धि सर है जब जो कार्य है उसके परिणाम को देख सके भविष्य का भी अनुमान लगा सके तो तो बुद्धि है जो उसको नहीं देख सकती तो बुद्धि क्या दुर्बुद्धि है इसी प्रकार से समग्र जीवन से अगर जीवन बिना विचारे कोई जीवन जीता है और अंत में जीवन के पश्चाता है तो बुद्धिमानी की बात है बुद्धिमानी ये है कि पहले से वो समग्र जीवन की प्लानिंग बना ले देखने की जीवन क्या है इसलिए है कैसे इसका उपयोग करना चाहिए अंततः जीवन के अंतिम समय तक हमें कहाँ तक पहुँचना है लौकिक भौतिक आध्यात्मिक क्या विकास करना है क्या उपलब्धियाँ जीवन की है वो कैसे प्राप्त होंगी ये बात शुरू से ही जीवन की निश्चय कर ले और उसी की दिशा में आगे बढ़े तो, तो ये समझदार व्यक्ति की बात और बिना प्लानिंग के उल्टा सीधा करता चला जाए जो हो जाए सो हो जाए है तो उसका तो परिणाम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचेगा क्या लाभ होगा क्या हानि होगा तो कोई चीज सुधाना नहीं अंत में अगर एक व्यक्ति अपने जीवन का जब अंतिम समय आ जाए सात सत्तर अस्सी वर्ष का हो जाए फिर तो उससे बड़ी गलती हो गई हमने ऐसा नहीं किया ऐसी जीते तो बहुत अच्छा होता अब उस गलती को क्या सुधार सकता है वो कह चलो एक बात कर्म जीवन जीते इसको शुरू करे और जाने दो व्यास लिया अब इसको फिर हम दोबारा से बाल्यकाल से शुरू करते हैं तो कर सकता है बिना मरी नहीं सकता दूसरा जीवन आए तो पता नहीं याद रहेगा भूल जाए ये सब इस प्रकार से कोई व्यक्ति इसलिए जीवन में यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का भले हाथ प्लानिंग करके किसी विधान ऊपर जीवन नहीं जीता तो फिर वो व्यक्ति समझदार व्यक्ति नहीं ये शास्त्रों के सबका कहना है इसलिए सारे शास्त्र इसीलिए है कि आप जीवन की अपनी प्लान बना सकें शास्त्रों में अनेक प्रकार के स्टैंडर्ड प्लान दिए हुए हैं जैसे नगर महापालिका से अगर कोई प्लाट में नगर बनावे कमरे मकान बनावे तो नगर महापालिका बने बनाए आपको नक्शे दे देगा कई तरह के ये सिलेक्ट कर लो तो ये कर लो और जिस दिन उनको छोड़ करके अगर आप बनाएंगे तो नगर माता का गिरा देगी आपके मकान को कष्ट करके देगी परेशान होगी बात इसलिए उन्हीं में से कोई प्लान ले लो और फिर उन्हीं प्लानों में से अपने बना लो ये बात दूसरी है कि जितना बड़ा कमरा उसमें बनाया गया है उतने बड़े कमरे में आप चाहे संगमत कर लो और चाहे अपना कच्चा खर्च बनाए लो खुद भी खुद से बना ये आपकी हो सकती है लेकिन प्लान आपको जो है नगर महापालिका जो बनाया गया कार्यक्रम रहेगा तो सारे का टीम का तो टीम का जिधर करके रखना है उस प्रकार का जो प्लान उनमें से सिलेक्ट कर लो उन्हीं में से प्लान चलाओ इसी प्रकार से शास्त्रों ने जीवन के प्रवृत्ति मार्गी निवृत्ति मार्गी अनेक प्रकार के प्लान भी रखे सामने पड़े हैं आपको आप जो चाहो उनको देखो कनेक्ट करो उनमें से और देखो कि ये प्लान हमें शूट करता है ठीक है उसको ले लो लेकिन अब उस प्लान के अनुसार करो भले ही कम पढ़े लिखे हो ज्यादा पढ़े लिखे हो भले ही निर्धन हो धनी हो भले ही और प्रकार के अपने आप में कुछ चेंजेस और हो करती रखेंगे चेंजेस वो बात दूसरी है लेकिन ओवरऑल प्लान जो है अपना लेकर के उसी प्रकार से चलो और फिर उसी प्रकार के जीवन जियो तो आपका एक प्लानिंग के साथ से अपना जीवन होगा और उसका परिणाम ठीक अच्छा होगा बिना प्लानिंग के जीवन जीना है तो बस फिर उसके बाद उसका परिणाम होता है चाहे कुछ होगा कुछ तो इसलिए ये कहते हैं सबसे मूलभूत सिद्धांत जो अपने जीवन की योजना बनाने में है और कार्य करने की है उसमें अगर व्यक्ति अहंकार स्वार्थ लेकर के चलता है तो उसका बना बनाया भवन भ्रष्ट हो जाता है इसका नहीं मतलब। उसका जीवन जो वो अंत में दुखदायी सिद्ध होता है लगता है सबका ये बड़े चाला है बड़े होशियार अपना मतलब सिद्ध कर रहे हैं लेकिन उसको थोड़ी देर के बाद पता चल जाता है कि उस समय सबसे बड़ी हानि इसलिए सबका साथ ये है कि अन्य लोगों की सेवा सहायता करते हुए चलो अब ये सिद्धांत भगवान बताते हैं सिद्धांत को अगर आपको प्रयोग करके देखना हो तो अपने घर में प्रयोग करके देख लो देख लोग सब एक दूसरे की सेवा में लगे हुए अपना स्वास्थ्य कोई नहीं अपना अहंकार कोई नहीं चार लोग हैं तो चारों लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं सेवा करते हैं जीवित पक्षियों का काम आते हैं इस प्रकार से एक दूसरे करके चले जाते हैं अब वो परिवार कैसा होगा सहयोग किसे कहते हैं कॉपरेशन किसे कहते हैं हाँ। शांतिमय जीवन किसे कहते हैं किसी सिद्धांत के ऊपर चले और जिस सिद्धांत के ऊपर परिवार चलता है इसी सिद्धांत के ऊपर समाज चलता है देश चलता है सारा संसार चलता है अगर इसी सिद्धांत को व्यापक रूप से अप्लाई करें तो अपने नगर में अप्लाई कर लो अपने देश में अप्लाई कर लो संसार भर में अप्लाई कर लो अब देखेंगे ये सिद्धांत तो चलेगा समाज में संसार में और इसके विपरीत जैसा जन समझते हुए चलाएंगे तो संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने अपने स्वास्थ्य को ही देखते हैं दूसरे लोगों का गालियाँ देते हम पहुंचाते हैं मन से बनाए बने बनाए लोगों को छक्का मार के गिराने की कोशिश करते हैं और दूसरे को गिरा करके स्वयं अपनी उन्नत करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग संसार में बहुत से हैं और जब तक ऐसे लोग रहते हैं तब तक भगवान कहते हैं कि देखो कलयुग में ऐसे बहुत होंगे कभी के माने क्या है को प्रधान जीवन जब लोगों की बुद्धि कुंठित हो जाती है जड़ बुद्धि हो जाती है तो विचार की व्यक्ति अधिक हो जाते हैं तो ऐसे लोग तो आगे करके ये बताए बताएंगे तुलसीदास जी को देखो सत्युग के माने क्या है जो सत्यगुण की अधिकता हो सहयोग और उसके त्रेता के माने क्या है जब रजोगुण आने लगे द्वापर के माने क्या है जब सत्युगुण बहुत कम हो जाए और रजोगुण बढ़ जाए और तवोगुण भी आने लगे और कलयुग के माने क्या है कि घोर तमोगुण कोई काम करने ही नहीं चाहे समाज में हर किसी व्यक्ति से पूछो कि क्या चाहते हो तुम कि काम कुछ न करना पड़े ज्यादा से ज्यादा सुख तो खाने को सब शिक्षा सब वस्तुएं प्राप्त हो ये प्रवृत्ति क्या है इसी का नाम तमोगुण है हर किसी व्यक्ति में यही भाव भरा हुआ है तो ये सिद्ध करता है कि तमोगुणी स्वभाव लोगों का है तो अधिकांश लोग तमोगुणी है इसके मैंने करिए तो ये कहते हैं भगवान के देखो कि जीवन का सिद्धांत जो है इस प्रकार का होना चाहिए कि परिहित दूसरे के हित में लगे जीवन हमारा इसलिए की लोक कल्याण के लिए समाज कार्य के लिए उसी में लगे अब कहते हैं कि देखो कहे भगवान कहते हैं कहे साथ जाने कोविद रहो कहते हैं देश पुराणों ने सबने यही बात कही है और जाने कोविद न भगवान कहते हैं देश पुराणों में तो सब लिखा हुआ है जो हम बता रहे हैं वो भी सब लिखा हुआ है लेकिन कौन पढ़ता है कौन देखता है किसी प्रसाद है कि वेद पुराण पढ़ो कौन उसे आदत करता है कि बिरला कोई कोविड होता है वही जो है उनको देखता है कि भाई आखिरकार प्राचीन काल के ऋषियों मुनियों ने जीवन खपा खपा करके यानी कितने एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर करके जो जीवन के सिद्धांत बना करके रखे हैं वो कहता थोड़े हम उनसे भी ज्यादा इतने बुद्धिमान थोड़े हो गए पैदा ही होते ही जितने बुद्धिमान हो गए कि उनसे ज्यादा हम अपने नए तरीका निकाल लेंगे अरे उन लोगों ने जो कुछ अनुसंधान किए खोज किए जो ज्ञान ज्ञान दिया है उसको हमें देखना चाहिए समझने की कोशिश करनी चाहिए वेद पुराण तो है लेकिन जानते कोविद न वे कहते हैं भगवान की देखो नर शरीर घर के परिपीरा करें साई महाभव वीरा लेकिन मनुष्य शरीर धारण करके भी जो लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं हानि पहुंचाते हैं करें पर पीड़ा करें ते सहाय महाभव पीड़ा उन्हें महाभव भी सहन करनी पड़ती है अब ये बात जो है ये कैसे होती है ये ये तो जो शास्त्रों का अवलोकन करे विचार करे तो उसे पता लगेगा कि अन्य लोगों को हानि पहुंचाना दुराचार भ्रष्टाचार इत्यादि करना चोरी का डालना अन्य लोगों को हानि नाना प्रकार से पहुंचाना ये सब का परिणाम ये होता है कि जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है उसके चित्र के ऊपर इन समस्त अचुभ कर्मों की शेष गार्डिंग होती रहती है अपने अंदर संस्कार उनके बनते रहते हैं और वे संस्कार परिपक्व होकर के बुद्धि को परिचित करते हैं समूह उत्पन्न करते हैं रजोग उत्पन्न करते हैं बुद्धि मंद हो जाती है जल हो जाती है विचार करने की सामर्थ्य उसमें घटती जाती है ये समस्या व्यक्ति में आ जाती है इनके परिणाम स्वरूप ये ये कह सकते हो कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव इन कर्मों का इस प्रकार से पड़ता है और फिर भी बुद्धि की स्वच्छता आने के बजाय बुद्धि में कृष्णता आती जाती है और बुद्धि विचारहीन होता चला जाता है अंततः ऐसा होता है कि शरीर छोड़ने के बाद फिर तो वो मनुष्य शरीर धारण करने का भी अधिकारी नहीं रह जाता अपने आप ही उसके अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी कि तो उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा और दूसरे पशु पक्षियों के कीट पतंगों के शरीर प्राप्त करे उन्हें मिले मच्छर वगैरह बने अंधम तमा प्रवेशन ये अविद्या ये अंधम तमा प्रवेशन थे अब देखो ब्रह्म ने कीड़े मकोड़े जीवन जी रहे हैं उनका जीवन अंधकार है वो पता ही नहीं उनको क्या जीवन है कहाँ आए हैं कहाँ पैदा हो गए कहाँ जाना है ये सब क्या हो रहा है बस वो बस अपने खाने ढूंढते ढूंढते जिंदगी बीत गई मिट्टी कीड़े कूड़े ढूंढते रहो खाते रहो ढूंढते रहो खाते रहो बस उसके आगे कुछ न पता नहीं अंधे की तरह से जीवन उनका जीवन ये दशा हो जाएगी और फिर महाभव भी ये संसार के नाना प्रकार के क्लेश हैं बहुत सहन करने पड़े जन्म मृत्यु बार बार हो बार बार नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे ये व्यक्ति अपने आप ही अपना भाग्य का निर्माता है कहने का तात्पर्य है जैसा व्यक्ति करेगा वैसे ही उसका भविष्य बनेगा आज जैसी जो कि जिससे सुझे प्राप्त है पूर्व काल में जैसे उसने कर्म किए वैसी स्थिति वर्तमान में स्थित है जो सुख दुख भोग रहा है जैसा शरीर प्राप्त हुआ जैसी आयु है जैसा ज्ञान है वो पूर्व कर्मों के परिणाम हो है अपने आप नहीं हो गई सर सब कार्य कारण नियम चल रहा है इसमें समय जरूर कॉर्पोरेट कमीशन सब जगह प्रकृति का जैसे बाहर है जैसे भीतर भी है इस प्रकार से वो हो कोई बाई चांस अब नहीं हो गया कि बाई चांस कोई व्यक्ति ऐसा बन गया है बाई चांस ऐसा हो गया ये सब कुछ बातें नहीं ये बाई चांस की बातें अवैज्ञानिक है अपने साथ बाई चांस कुछ नहीं बनता आपका कार्य कारण आगे भी जैसे हम हैं अगर आगे विकास चाहते हैं तो विकास का मार्ग भी है और अगर वो न ध्यान दें तो अपने आप गलती करें तो अपना पतन भी हो सकता हानि भी हो सकती है तो इसलिए कहते हैं नर शरीर दर अब देखो मनुष्य शरीर नर शरीर कहकर के ये सिखाते ही मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है तो उसे बुद्धि भी प्राप्त है इसकी तो विशेषता जो कि अन्यत्र देखते हैं नहीं है और दूसरी बात बुद्धि की विशेषता मनुष्य में है और कर्म स्वातंत्र भी है कभी कभी लोग समझते हैं कि व्यक्ति हमें जैसा प्राप्त होगा वैसे तो करेंगे जैसा भगवान कराएगा वैसे तो करेंगे ऐसा नहीं है मनुष्य को कर्म स्वातंत्र भी है वो चाहे तो इस मार्ग पर चले चाहे उस मार्ग पर चले ऐसी स्वतंत्रता भी है भले ही बहुत स्वतंत्रता न हो तो भी कुछ न कुछ तो है अगर कोई व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है श्रेय मार्ग पर चलता है और थोड़ा भी चलता है तो श्रेय मार्ग पर चलने की अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है और दूर तक जा सकता है लेकिन प्रारंभ में वो देखेगा कि श्रेय मार्ग पर चलना कठिन है नहीं चला जा सकता लेकिन थोड़ा बहुत भी चलेगा तो आगे उसे रास्ता मिल जाएगा सामर्थ्य व्यक्ति में है ऐसा नहीं कि सामर्थ्य नहीं है प्रारंभ में वो ये लगेगा कि अंत तक वहां तक चला जाना बहुत तो कठिन है उतनी हमारी सामर्थ्य नहीं है लेकिन उस मार्ग पर जब कोई व्यक्ति चलता है तो सामर्थ्य आती जाती है श्रेय मार्ग व्यक्ति को सामर्थ्य देता है इसी प्रकार श्रेय मार्ग जो गलत रास्ता जीवन का है उस पर चलने में व्यक्ति अपनी शक्ति क्षीण करता है और धीरे धीरे अधोगत की तरफ आगे अपने आप हल्का चला जाता है तो इसलिए कहते नर शरीर जय परी पीड़ा मनुष्य सही धारण करके माने कि जो बुद्धि भी उसका प्रयोग करें और जो फ्रीडम ऑफ विल है कर्म स्वातंत्र है उसका भी उपयोग करें ये कर्म स्वातंत्र और बुद्धि आप देखो कहीं किसी गाय बैल बकरी इत्यादि में है वे अपनी अपनी प्रकृति में रहे हैं पर जैसी प्रकृति उनसे कराती वैसी करते हैं उनके सामने कोई कर्म स्वातंत्र नहीं मनुष्य नहीं है इसलिए उनके सबसे शरीर भोगी उन्हीं कहलाते हैं मनुष्य का शरीर कर्म प्रधान है भूल योनि तो है ही है लेकिन उसके साथ कर्म योनि भी है इसमें जिस जैसा शुभाशु कर्म करेगा वैसे ही उसका भविष्य आगे का उसी प्रकार का बनेगा इसलिए कहते नर कभी न धर जय परिपीरा करें से सहाय महाभव वीरा और करें मोह बस नर यज्ञाना व्यक्ति पाप करना क्यों करते हैं मोह के कारण करते हैं अब देखो तुलसीदास जी अपनी भाषा ऐसी लगती है सर्व भाषा बुद्ध चले जाते हैं कि मोह के कारण व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त होता है इसी प्रकार गीता में देखते हैं तीसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछ दिया कि प्रयोग प्रयुक्त एवं पापम चरती पुरुषा हे नावन जब ये बताइए कि मनुष्य पाप कर्म क्यों करता तो भगवान उसका उत्तर नहीं देते जो यहाँ पर ये कहते हैं काम ये क्रोध है समुद्भवा महाशनो महापाप माँ विद्य मुहिवैगणम ये अयुगो के कारण से व्यक्ति में मोह उत्पन्न होता है और काम को राज उत्पन्न होते हैं उन्हीं से प्रेरित होकर के जब व्यक्ति कर्म करता है तो वो पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है तो जब इसी से अब जब मालूम हो जाए कि गलती हमसे क्यों होती है तो पाप मोह के कारण होती है काम क्रोध के कारण होती है तो इनको दबाए रखे बचाए रखे इनसे अपने आप को इनके चक्कर में न डालने दे अपने आप सावधान रहे इनसे तब पाप कर से बचे तो ये कहते हैं करेंगे मोह बस नरे अगनाना और स्वागत लोक नशाना बस लोग वो स्वास्थ्य के कारण अब देखो ये जैसा कि कारण में बताया था मूल बात ये है कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को प्रधान मानता है अपने अहंकार को प्रधान मानता है ये समझता है कि अगर हमारा स्वास्थ्य होता तो हम सुखी है हमारा अहंकार तक होता संतुष्ट होता तो हम सुखी है ये व्यक्ति ये समझता रहता है ये उसकी शांति अहंकार और स्वास्थ्य यही व्यक्ति को दुख देने वाले और लगते हैं सुखदायी कर इस घर में नहीं भाई ये तो है ही है दूसरी जगह भी जो कहा उसको चौपाई को भी याद पर ही से बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ है तो संसार में जो दूसरे गेट में लगे हैं उनको कुछ भी दुर्लभ नहीं सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं लेकिन जो स्वार्थ में लगे हुए हैं वो अपना विनाश कर सकते हैं और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते तो वो अपने आप खुद लिया है तो शास्त्री जरूर ही ठीक शास्त्र है कि जानते हैं कि मनुष्य को जो सत्य है वो ऐसा सोचता नहीं और शरीर में सत्गुण अधिक हो व्यक्ति में तो भले छूट गए शरीर में इस प्रकार की कोई संभावना नहीं यहाँ जो उल्टा है वही सही दिखाई देगा जो हानिकारक है वही लाभकारी दिखाई देगा जो पकड़ अंतर ले जाने वाला है वही से कल्याणकारी लगेगा इसलिए शास्त्र की बहुत जरूरत है भले ही शास्त्र की बात अपनी चित्र में जल्दी न उतरे तो भी उसके सिद्धांतों को लेकर के प्रयोग करके देखने चाहिए जीवन इसलिए कहते हैं कि कहीं मोह बस नाना स्वार्थ रस परलोक नसाना परलोक नसाने के माने ये है कि ऐसा ही तो वो इस जीवन को छोड़ करके जो दूसरे जीवन में जाएगा तो उसका परलोक कहलाता है शरीर के तत्व रहकर के जीवन जीते हैं तो ये एक लोक अगर हम शरीर का अभिमान छोड़ करके अपने प्राण के स्तर पर या मन के स्तर पर या बुद्धि के स्तर पर जीवन जीने लगते हैं तो हमें एक लोक में पहुंच जाते हैं के बच्चे अनुभव अनुभव दोनों हैं और एक समान है फिर भी पीढ़ी के प्रति सही है कि अगर जागृता अवस्था में जो कुछ बनता बिगड़ता है वैसे तो ही सपनावस्था में बन बिगड़ जाए या सपना अवस्था में जो कुछ बनता बिगड़ता वही अवस्था में देखें वैसे बन गया तो फिर देखते हैं अगर सपना अवस्था में कोई व्यक्ति लड़े झगड़े हाथ पर टूट जाए तो इसके माने ये कि जागे के तो हाथ पर टूटे मिलेंगे क्यों ये दोनों के पीटर एक्सपीरियंस डिफरेंट है झंडो रहते हैं शरीर में हैं लेकिन कोई हे भाव रहता है कोई काम भाव रहता है कोई मन भाव रहता है कोई बुद्धि भाव में रहता है तो जिस भाव की प्रधानता व्यक्ति के जीवन में होती है उसका वही लोग है और जिस लोक में व्यक्ति होता है उसको उसी प्रकार का आसपास लोक का आसपास ही दिखाई देता है जो देहाभिमानी होगा उसे आसपास की दीवारें वस्तुएं सड़कें नगर और व्यक्ति के अस्तित्व को नहीं दिखाई देगा लेकिन जो अपने मन के स्तर पर जीवन जीने वाला होगा उसे ये तो सब दिखाई देगा कि मनुष्य है तो नगर है इतना सब है लेकिन ये भी दिखाई देगा कि अपने मन में सुख दुख क्या है दूसरे मन को जो हम बोल रहे हैं उसके मन के ऊपर प्रकार का एक्सपीरियंस करते हैं कि दूसरे लोगों को हृदय में इस प्रकार की परिवर्तन या अनुभूतियाँ ऐसे करके फील कर रहे हैं ये उनको दिखाई देता है जो देहाभिमानी व्यक्ति है जड़ बुद्धि के व्यक्ति है वो मानो कुछ बोल दिया किसी से और बोलने के बाद उसके मन को कुछ खराब लग गया कष्ट हुआ दूसरे को तो जड़ बुद्धि वाले इसलिए नहीं पाएंगे कि हमने क्या बोल दिया दूसरे को क्या कष्ट होगा समझ लेकिन जो लोग थोड़े ऊंचे स्तर के जीवन जीने वाले हैं वे जब इस प्रकार से बोलेंगे व्यवहार करेंगे तो उनको ये भी पता लगेगा कि हमारा प्रभाव दूसरे के मन के ऊपर क्या पड़ रहा है अनुकूल प्रतिकूल कैसा प्रभाव पड़ रहा है ये भी वो हो समझ लेगा डिफरेंट फील्ड ऑफ तो होता यह कि अगर व्यक्ति निम्न कोटि का जीवन जीता है तो उसका परिणाम ये होता है कि फिर वो प्राण के स्तर पर मन के स्तर पर बुद्ध के स्तर पर जीवन नहीं जी पाता बस वो पशुओं की तरह से शरीर के स्तर पर खा पी ले सोने इससे ज्यादा उसका जीवन नहीं होगा यही उसके परलोक का नष्ट होना है हर टाइप का जो लाइफ जो जीवन है उच्च कोट की जो जीवन है उससे फिर वो वंचित हो जाता है उच्च स्तर के जो सुख है जीवन के उनसे भी वो रहित हो जाता है वो भी प्राप्त नहीं कर पाता है इसलिए हैं ये कि स्वार्थ परलोक नशाना ये लोग इस प्रकार से इनका परलोक नष्ट होता है और काल रूप दिन कहूँ मैं भ्राता सुबह अशुभ करो फुलदाता और कहते हैं कि भाई ऐसे लोगों के लिए मैं काल हूँ जो स्वार्थी है दूसरे को पीड़ा पहुँचाने वाले हैं भगवान कहते हैं उसके लिए मैं काल हूँ काल हूँ के माने ये बात भगवान को यहाँ इन्हीं लोगों के लिए बतानी पड़ती है जो निशाचरी स्वभाव के हैं पर पीड़ा पहुँचाने वाले हैं उनको ये बताना पड़ता है कि देखो तुम समझते हो कि हम कुछ भी करेंगे और हमको सजा देने वाला कोई नहीं है इसका परिणाम भोगन भुगाने वाला कोई नहीं है हम स्वतंत्र हैं हम अपने कर्म का फल जो शुभ चाहे अशुभ कार्य करें इसका फल कोई नहीं भोगेंगे और कोई न कहीं नरक है और न कहीं नीचे के लोग हैं और न कहीं कोई जो है वो दुख देने वाला है ऐसा समझने वाले हैं व्यक्ति वो अपने समझते रहे लेकिन हम उनको जो है उनको ठीक ठिकाने लगाएंगे सबको आपको दंड